और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे जमीन पर डाल दो इन लोगों ने जो कारीगरी की है वो उस सब को निकल जाएगी इनकी सारी कारीगरी एक जादूगर के करतब के सिवा कुछ नहीं और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती